नमस्कार मित्रों ये वीडियो है वो नक्शलाइट प्रॉब्लम के ऊपर है प्रॉब्लम के बारे में और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए मेंशन किए हैं और डिटेल में भी एक्सप्लेन किए हैं Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M फिर से रिपीट करता हूँ Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H इसमें चैप्टर 61 में मैंने स्टेप्स मेंशन किए कि कैसे नक्सलाइट प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है और इसमें दूसरे चैप्टरों में रेफरेंसेस है नक्सलाइट प्रॉब्लम पढ़ा कैसे और इतना शुरू कैसे हुआ तो जो नक्सलाइट लीडर है आज के और नक्सलाइट लीडर 19 67 में जब मूवमेंट शुरू हुई उसमें जमीन आसमान का फर्क है नक्सलाइट लीडर जो 1967, 1960 के या 1970 के थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे उनका ध्येय व्यवस्था परिवर्तन का था पूरे देश में क्रांति लाने का था अभी जो नक्सलाइट लीडर है वो एक तरह से फॉरेन एजेंट ही कहूँगा मैं उन्हें उन्हें कोई व्यवस्था परिवर्तन से लेना देना नहीं नई व्यवस्था क्या होनी चाहिए तो उस पर वो कभी न उनका कभी डिबेट होता है न कभी आर्टिकल आते हैं न कभी डिटेल लेते हैं बस एक ही बात होती है मारो काटो और कुछ नहीं तो नक्सलाइट लीडर अभी सब बिके हुए या फॉरेन एजेंट हैं और कांग्रेस के या अलग अलग वहाँ पे जो लोकल पार्टी होती है उसमें जो स्ट्रांग पार्टी होती है उसकी वो कैटरिंग शुरू कर देते हैं और अभी नक्सलाइट मूवमेंट में मिशनरी ऑफ है काफ़ी बढ़ गया मिशनरी है वो नक्सलाइट को काफ़ी पैसा और हथियार भी देते हैं जिसकी तो वजह से वो स्ट्रांग हो गए पर एक ये भी है कि नक्सलाइट के जो बॉटम रिक्रूट है वो अधिकतर गरीब है और उसमें भी अधिकतर आदिवासी और दलित की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो एक ये तो प्रॉब्लम है कि उन्हें रिक्रूट बड़ी संख्या में मिल रहा है और रिक्रूट मिलने का एक कारण गरीबी है गरीबी कम हो जाएगी तो उनको रिक्रूट कम हो जाएगा अब दूसरे स्टेट में ये प्रॉब्लम कम क्यों है तो अलग अलग कारणों में से एक कारण ये है कि जिन जिन स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स थोड़ा बहुत हुआ वहां पे गरीबी कम हो गई गरीबी कम हो गई और उसकी वजह से नक्सलाइट नक्सलिज्म वहां पे खिलाफ लाने नक्सलाइट लीडर तो वहां भी पहुंच गए वुमेन खड़ी करने के लिए लेकिन उन्हें रिक्रूट नहीं मिले बड़ी संख्या में जैसे गुजरात है तो गुजरात में नाइनटीन फिफ्टीज में लैंड रिफॉर्म शुरू हो गया लैंड रिफॉर्म से हमें क्या कि 1950 में 1947 में 1950 में पूरे देश में अधिकतर खेती की जमीन थी वो जमींदारों के पास मिलों के बीच खेत होते थे दो तीन दस दस पंद्रह बीस गांव पूरे के पूरे उनके अंडर में होते थे और कुछ कुछ जिलों में 1950 के बाद जो नई जमीन खेती के लायक बनी क्योंकि तो इतने सारे बांध बने इतने सारे नहर बनी 1950 के बाद बांध बनी नहर बनी तो जो पहले कुछ तो जमीन बंजर थी वो अब खेती लायक बनी तो कुछ कुछ जगह पे ये नई जमीन छोटे किसानों को मिली लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे कि वहाँ नई जमीन भी बड़े किसान हड़प करके ले गए सौ एकड़ दो सौ एकड़ पाँच सौ एकड़ हजार एकड़ और अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम पे हैं जहाँ पे बड़े किसान बहुत ज़्यादा है और छोटे किसान और मिडिल लेवल के किसान बहुत कम है वहाँ पे गरीबी इतना ज़्यादा है तो मान लो एक गांव है या दो तीन गांव का एक समूह है जहाँ पे एक ही आदमी के पास सारी जमीन है तो एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉयर उसकी मोनोपोली हो गई क्योंकि वो काम देगा तो आप काम कर पाओगे उसने काम देने से मना कर दिया तो आसपास के दो तीन गाँव तक कहीं आपको काम नहीं मिलेगा तो जो भूमि मजदूर है उसको और जमींदारों की संख्या छोटी है तो आपस में मिल जाएंगे सब तो पाँच दस जमींदार मिल गए तो एक बोलेगा कि भाई मेरे गाँव के किसी आदमी को मत देना नौकरी और मैं तेरे गाँव के किसी आदमी को नौकरी नहीं देगा तो इस तरह से नेक्सस की वजह से मोनोपोली और स्ट्रांग हो तो मोनोपोली इन एम्प्लॉयमेंट जो बिग लैंडलॉर्ड का प्रॉब्लम क्या था कि मोनोपोली इन एम्प्लॉयमेंट आ गई और लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो थी नहीं कि एक गाँव से दूसरे गाँव बस में चले चले गए उसकी वजह से वो कम से कम उनको तनख्वाह देता था कि बस वो जिंदा रहे पड़े नहीं या इतनी तनख्वाह दो खाने पीने को मिल जाए तो पहनने को कपड़ा मिले ना मिले दवाइयों के लिए पैसा मिले ना मिले एजुकेशन का तो सवाल ही नहीं आता तो जो लैंडलॉर्डिज्म था उसकी वजह से जो लोअर क्लास था वो बहुत ही गरीब रहता था अब गुजरात में बड़े किसानों की जमीन सरकार ने छीन ली जिसके पास दस हजार बीस हजार पचास हजार एकड़ थे उनसे जमीन छीन के छोटे किसानों को दे दी पाँच एकड़ दस एकड़ बीस एकड़ तो सब लोगों को तो जमीन नहीं मिली लेकिन जो छोटे किसानों को जमीन मिली उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में कॉम्पिटिशन आ गया तो कोई अगर क्योंकि मेरे खेत में आकर काम कर जब सीजन होता है दूसरा कहता है मेरे खेत में आकर काम कर मैं तुझे पाँच रुपया ज़्यादा दूंगा तीसरा रहा हूँ मेरे खेत में काम कर मैं तुझे दस रुपया ज़्यादा दूंगा तो एम्प्लॉयर के बीच जो कॉम्पिटिशन हुई इसकी वजह से जो लैंडलेस एम्प्लॉज है लैंडलेस लेबर है उसका वेज बढ़ गया उसका रेट बढ़ गया तो उसकी इकोनॉमिक भी अच्छी होगी फिर लैंडलॉर्ड में ये भी होता था कि तो उसके पास मतलब जो जमीन है उसको पड़ी हुई होगी ना होगी नहीं होगा तो भी ठीक कोई भूखा तो मरने नहीं वाला हो पर जब एक आदमी के पास दस एकड़ जमीन है तो वो जमीन के एक एक कोने पे वो ध्यान रखता है क्योंकि तो यहाँ एक गलत फसल तो यहाँ कहीं जंगली पेड़ उगने शुरू हुई होंगे जंगली पौधे उगने शुरू हुए जैसे जंगली पौधा होगा तुरंत किसान का ध्यान देगा क्योंकि मेरे पास मेरे पास मिलों की मिलों जमीन है तो मैं एक एक पौधा देख नहीं सकता इसलिए मैं सब कॉन्ट्रैक्टर दूंगा कॉन्ट्रैक्टर को बोलूँगा कि यहाँ से तुम मिलेगी उसका एक छोटा सा हिस्सा तुझे तू रखेगा बाकी मैं ले जाऊंगा तो उसके पास अब इंसेंटिव का हो गया फसल को मैक्सिमाइज करने का तो ये भी एक प्रॉब्लम था forest and effective utilisation of land कम था इसलिए जहाँ पे जहां जहां बड़े लैंडलॉर्ड हैं वहां पे पर हेक्टर फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है पर हेक्टर फर्टिलाइजर कंजम्पशन ज्यादा है पर हेक्टर पेस्टिसाइड कंजम्पशन ज्यादा है और उसके बावजूद भी पर हेक्टर उपज है वो कम है और जहां छोटे किसान है वहां पर हेक्टर उपज ज्यादा है ये बात पूरी दुनिया की है आप चाइना को और अमेरिका को कंपेयर करोगे अमेरिका में बड़े किसान वहां देखोगे कि पर हेक्टर कम है उनकी फसल और पर हेक्टर फ्यूल कंजम्पशन उनका ज़्यादा है पर हेक्टर कॉस्ट भी उनकी ज़्यादा है तो लैंडलॉर्डिज्म गुजरात में कम हुआ केरल में थोड़ा कम हुआ बंगाल में कम हुआ तो उसकी वजह से आप वहाँ पे नक्सलवाद कम है लेकिन बहुत सारे एरिया में जैसे यूपी बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश वहां पे बड़े जमींदारों का दमन चालू है तो अब हर जगह नक्सलवाद क्यों नहीं आया जैसे यूपी में क्यों नहीं आया तो इसका रीजन ये है कि यूपी में मैदानी जमीन ज्यादा है जंगल रिलेटिवली कम है इसलिए नक्सलाइट है वो पुलिस से ज्यादा दूर भाग नहीं सकते क्योंकि मैदानी इलाके में पुलिस आसानी से ढूंढ लेगी उन्हें और चेज कर सकती है जबकि जंगल में आदमी चला जाए तो पुलिस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि पुलिस भी यदि जंगल में चली जाती है तो आसपास तुम्हारे पेड़ के ऊपर या पौधों के पीछे या झाड़ियों के पीछे लोग छिपे हुए पुलिस उन्हें आसानी से देख नहीं सकती तो उन पर हमला हो सकता है तो बड़ी संख्या में पुलिस मारी जाएगी इसलिए नक्सलवाद का एक भी रीजन में टोपोग्राफी कि जहाँ जंगल ज़्यादा है वहाँ नक्सलवादियों को पुलिस के सामने हथियार इस्तेमाल करने में आसानी रहती है और पुलिस की मरने की संभावना ज़्यादा हो गई नक्सलवादी की मरने की संभावना थोड़ी कम हो गई तो उस एरिया में नक्सलवाद ज़्यादा है पर बेस रीजन रिक्रूट उन्हें तो बड़ी संख्या में मिलते हैं गरीबी मान लो वो जंगल वाले एरिया है जैसे गुजरात में भी काफ़ी एरिया में जंगल है वहाँ नक्सलवाद नहीं है क्योंकि वहाँ जो बेस पॉवर्टी है वो कम हो गई लैंड रिफॉर्म्स की वजह से इसलिए नक्सलवादी नेताओं को बड़ी संख्या में रिक्रूट नहीं मिलते तो एक ये कारण है दूसरा दमन का भी एक कारण है दमन उस एरिया में जो दलित और आदिवासी है वो इतने पिछड़े हुए हैं एक पूरी कम्युनिटी मतलब 10 पंद्रह प्रतिशत तो जिसका कोई भी रिश्तेदार जिसका कोई भी सका संबंधी ना वकील है ना जज है ना आईएएस है ना आईपीएस है पटवारी भी है तो पुलिस में मैं ऐसा नहीं कहता कि पुलिस में या सरकारी अधिकारी में या प्राइवेट लोग में सारे लोग दमनकारी होते हैं ऐसा नहीं है दो तीन प्रतिशत लोग भी ऐसे होते हैं क्योंकि दमन करते हैं अनेक प्रकार से दमन करते हैं उनका पैसा छीन लिया या उनकी जमीन छीन ली या जो भी दमन करने के तरीके होते हैं तो सब ऐसा करते ऐसा नहीं है पर ये जो तीन चार प्रतिशत लोग हैं जो कि दमन करना चाहते हैं वो देखते हैं कि वीक विक्टिम कौन है जो वीक आदमी होता है उसको विक्टिमाइज करते हैं प्रेडेटर स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसे कि जो शेर है उसे कमजोर प्राणी और मजबूत प्राणी दिखे तो वो पहला हमला मजबूत प्राणी पे करेगा तो वो देखता है कि कमजोर प्राणी पे हमला करने में उसको तो, इंजरी तो हो सकती है तो ये जो प्रेडेटर माइंडसेट है जिनका जिनको दमन करना है ऐसे पुलिस के हो या आईएएस के हो आईपीएस के हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हो या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो वो देखते हैं कि भाई ये जो आदिवासी इलाके हैं आदिवासी एरिया में रहते हैं दलित एरिया में रहते हैं इनका कोई रिश्ता ना की ना वकील है ना जज है ना पुलिस है यानी और उनका एजुकेशन भी इतना कम है कि उनको कंप्लेन फाइल करना भी नहीं आता उनका कोई रिश्तेदार अखबारों में भी काम नहीं करता तो उनकी बात को मुद्दा बना सके तो कहेंगे रिश्ता दमन करो एक तरह से वो पोलिटिकली स्पीकिंग पॉलिटिकली स्पीकिंग उन्हें पैरामुंडी कह सकते हो मुंडे कह सकते हो क्योंकि वो जो बोलेंगे उसकी आवाज़ दूर तक पहुंचेगी नहीं क्योंकि आवाज़ को दूर तक सरकार के अंदर या पब्लिक के अंदर पहुंचाने की उनके पास वाला नहीं है और उनके आदमी नहीं है जो कि मीडिया में काम करते हो या तो सरकार में बैठे हो तो इनका दमन करो इनका कितना भी दमन करो इन लोगों के पास ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि सरकार में जाके हम पे एक्शन ले सके तो दमन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और फिर वो आदमी दमन से एकदम प्रताड़ित होकर फिर नक्सलवादियों के साथ मिल जाता है ऐसे सौ सौ लोगों का दमन होगा तो बीस पंद्रह बीस पच्चीस है तो नक्सलवादियों के साथ जुड़ जाएंगे तो एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और दूसरा दमन क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी पूरी एक आइसोलेट हो चुकी है कि एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा जत्था है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जान पहचान का आदमी नहीं है और हमारे यहाँ वो भी एक दूसरी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जान पहचान में चलता है रिक्रूटमेंट है वो नेपोटिज्म में होती है करप्शन में होती है कहीं कहीं पर रिटर्न एग्जाम से होती है which is a plus point लेकिन बहुत एक एरिया जैसे जुडिशरी है वहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो पूरी इंटरव्यू के बेसिस पे होती है इंटरव्यू में फाइव लगी जवाब चलता है थोड़ी रिश्वत थोड़ी चलती है फिर इसी तरह से जब ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर में भी बहुत बड़ी ये नेपोटिज्म वगैरह चलता है रेंडमाइज ट्रांसफर का सिस्टम सिर्फ मिलिट्री में है पुलिस में या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट में रेंडमाइज ट्रांसफर का मैकेनिज्म नहीं है तो अब और इसमें जब लोग हैं जिन पे दमन हो रहा है गरीब भी है तो कुछ लोग हैं जिन्हें मतलब पूरी सरकार को उठा के देश के या देश के हिस्से में शासन करना है तो वो लोग देखते हैं कि भाई ये लोग है वो मेरी सेना में जुड़ने को तैयार हो जाएंगे तो ये नेता अधिकतर नक्शा एक नेता है वो बेल्टपुर फैमिली से आते हैं सब करप्ट है ऐसा नहीं बोल सकते पर जो नए लेटेस्ट लॉट जो है वो सर से बहुत तक करप्ट है जो पुराने थे 1960 के सेवेंटी के उनमें बहुत सारी खराबियाँ थी पर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था उनमें सारे खरेबे को पचासों खरेबियाँ थे मैं उस मूवमेंट को सपोर्ट करता है नक्सलाइट को सबसे का मतलब तो गलत मूवमेंट है मतलब कि बुराई के सामने लड़ने का दावा करे या बुराई के सामने लड़े पर क्वेश्चन कि तुम ऑल्टरनेटिव क्या चाहते हो ऑल्टरनेटिव की बात आती है तो वो हमेशा गोल गोल बात करते हैं कि हमें क्रांति लानी है क्रांति लाने के बाद नहीं सत्ता नया शासन है वो क्या करेगा वो वर्तमान शासन से किस तरह से अलग होगा तो उसके बाद उनकी कोई डिटेल नहीं होगी पर कम से कम पिछली पीढ़ी के नक्सलाइट लीडरों में आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था और नहीं है तो अब ये जो नक्सलाइट मूवमेंट लीडर है उनको हथियार कहाँ से मिल जाते हैं मिशनरियों के मिल जाते हैं थोड़ा बहुत सीआईए देता है या चाइना देता है वहां से किसी न किसी तरह से उनको पैसा या हथियार मिल जाते हैं पैसा और हथियार आ गए वहां पे गरीब और प्रताड़ित लोग हैं जिनका दमन हुआ है वो लोग बंदूक के लिए लेके लड़ने को तैयार है और थोड़ा बहुत पैसा सैलरी भी उनको मिलती है जो नक्सलाइट की सेना में काम करते हैं तो एक सेना खड़ी हो गई छोटी मोटी और सेना में जरिए वो और पैसा पैसा इकट्ठा करते हैं कि वहाँ पे जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोलते हैं कि भाई एक ट्रक का कोयले की ट्रक है तो एक ट्रक का आपको इतना हज़ार देना पड़ेगा तो उसको तो कॉन्ट्रैक्ट चलाना है किसी तरह से बिजनेस चलाना है सबसे गलत वो नक्सलाइट को पैसा देना शुरू करता है तो उससे नक्सलाइट और स्ट्रांग हो जाते हैं अब इसमें से कैसे पूरा ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए तो ये जो मेरा रेफरेंस है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot P D F मैं नक्सलाइट खत्म करने के लिए इतने स्टेप्स बताता हूँ कि हमें क्या क्या गैजेट में छापना चाहिए गैजेट यानी क्या ये गैजेट है गैजेट यानी कि राज्य का हर एक मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री हर हफ्ते पंद्रह दिन महीने जब भी उसको जरूरत हो वो एक गैजेट छापता है गैजेट में इंस्ट्रक्शन होती है कि कलेक्टर तुझे ये करना है तहसीलदार तुझे ये करना है सेक्रेटरी तुझे ये करना है मतलब गैजेट यानी मिनिस्टरों द्वारा दी गई सेक्रेटरी कलेक्टर आदि को इंस्ट्रक्शन और सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दी है तो सेक्रेटरी उसके आधार पर और इंस्ट्रक्शन बनाता है तो हम ऐसे गैजेट में क्या चीज छाप सकते हैं कि जिससे नक्सलवाद का हो और मेरा ये कहना है कि हम गैजेट में कुछ एक ड्राफ्ट छपवा लें तो तीन छह महीने के अंदर नक्सलवाद का प्रॉब्लम वो प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा तो ऐसा हम क्या गैजेट में छपवा सकते हैं सबसे पहला एमआरसीएम कानून चैप्टर फाइव में मैंने दिया है Uh, in 3011 PDF chapter 5 MRCM यानी मिनरल रॉयल्टी और सरकार की जमीन का जो किराया और स्पेक्ट्रम रॉयल्टी है वो सीधा सिटीजन के खाते में जाएगा तो हर एक सिटीजन को महीने में 300-400 रुपया पर पर पर्सन पर मंथ नहीं अरे सॉरी पर फैमिली नहीं 300-400 रुपीस पर पर्सन पर मंथ इतना पैसा उसे जमीन के किराए से मिनरल रॉयल्टी से और स्पेक्ट्रम रॉयल्टी से मिल सकता है तो बेसिक पॉवर्टी खत्म हो गई तो जो भी आदमी नक्सलाइट का रिक्रूट बनेगा रिक्रूट बनने से पहले सोचेगा कि यदि मैं रिक्रूट बना तो हो सकता है तीन साल सवा पांच साल दस साल तक मुझे ये पैसा ना मिले जो भी महीने का तीन सौ चार सौ मिल रहा और एक बार गरीबी कम हो गई तो सरकार के खिलाफ इम्प्रूवमेंट करने की मुहिम शुरू होती है हिंसा की मुहिम खत कम हो जाती है आदमी यदि गरीब है तो वो सीधा हो सकता है उसको यदि हथियार मिले कोई लड़ने को लिए प्रोत्साहन करे तो वो लड़ने को आ जाएगा पर बेसिक पॉवर्टी नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए सोचेगा वो सीधा वायलेंस में आने के उसके चांस कम हो जाएंगे दूसरा स्टेप मैंने प्रपोज किया है बेड टैक्स का कि हमारे यहाँ एक्साइज बैट वगैरह वो टैक्स निकल जाते हैं और वेल टैक्स आता है बेल्टेक्स आएगा तो अपने आप जमीन के दाम कम हो जाएंगे जमीन के दाम कम हो जाएंगे तो बड़ी मात्रा में उद्योग खुलेंगे दुकानें खुलेगी उद्योग दुकान सब खुलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गरीबी कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो भी नक्सलाइट कम हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट और नक्सलाइट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं तो इस तरह से टैक्स से पॉवर्टी कम होगी और इससे और सॉरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इससे नक्सलवाद कम होगा फिर एक स्टेप आता है दूसरा स्टेप आता है जो मैंने चैप्टर 27 में एक्सप्लेन किया है चैप्टर 27 में right to recall police commissioner police पे मेरा रेफरेंस है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M और उसमें आ, chapter 22 sorry chapter 22 including police right to recall police commissioner से क्या होगा कि अभी जो उन पर दमन हो रहा है पुलिस एट्रोसिटी वो क्यों रही है क्योंकि नागरिकों के पास पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालने की कोशिश इसलिए पुलिस कमिश्नर सोचता है कि कांस्टेबल पीआई पीएसआई या खुद कभी भी खुद भी दमन करना करने तो मचा जाता है ये लोग मेरा क्या ऑफर देंगे कौन सुनने वाला है उनका कहाँ रजिस्टर गांधी को हाईकोर्ट का जज है सुप्रीम कोर्ट का जज है मिनिस्टर है एम एल एम पी भी है दो चार एम एल एम पी वो है तो उनको मैं पैसे दे दूंगा लेकिन बड़ी संख्या में तो नहीं है पर right to recall police commissioner आया गया कि जिले के लोग जब पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालने के लिए उनकी प्रोसीजर आई थी तो इससे पुलिस दमन कम हो जाएगा और क्राइम जनरल भी कम हो जाएगा फिर right to recall home minister क्योंकि पुलिस दमन बड़े पैमाने पे हो रहा है तो वो तभी हो सकता है जब होम मिनिस्टर का आशीर्वाद हो और हाईकोर्ट के जज का आशीर्वाद हाईकोर्ट के जज या होम मिनिस्टर के आशीर्वाद के बिना बड़े पैमाने पे दमन या बड़े पैमाने पे अवमान अपमान नहीं हो सकता मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ एक साल पहले की बात है दो एक साल पहले की एक एम है पुनिया आप गूगल करोगे Jagannath Puri Punia temple entry denied ऐसा कुछ आप गूगल करोगे तो आर्टिकल मिल जाएगा आपको तो दो एक साल पहले जगन्नाथपुरी के पुरोहित ने एक दलित एम थे उसको मंदिर में घुसने से रोका तो मंदिर में तुम्हें नहीं घुसने देंगे तो वो पुलिस लेके गया जब पुलिस लेके गया तो घुसने दिया मंदिर में पर जैसे मंदिर से बाहर निकला पूरे मंदिर की उसने दूर से सफाई की तो वो एक पता था अपमान हुआ अब ऐसा है कि इसमें एक आदमी का अपमान नहीं हुआ ये पूरे दलित समाज का अपमान हुआ ऐसा नहीं था कि उसने बोला था कि मैं पूजा को नहीं होगा पूजा को दलित है मैं तुझे नहीं पूछने दूंगा मंदिर में तो इस तरह से अपमान हो तो नक्सलाइट की possibility one percent two percent five percent कम हो जाती है कि जैसे आ, आ, एक आदमी वैसे ही गरीब है वैसे ही प्रताड़ित है और उसको अपमान के बारे में पता चला तो अब हो सकता है कि वो तो एज पे खड़ा था पॉइंट पे खड़ा था और ये बात सुन के वो पॉइंट क्रॉस कर लिया और वो बंदूकात को लाके नक्सलवादी बन जाए पर ये पुजारी ने अपमान क्यों किया है क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने उसे इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन दिया था कैसे प्रोटेक्शन दिया था यदि हाईकोर्ट के जज ने जब पुजारी ने यह स्टेटमेंट दिया उसी वक्त यदि हाईकोर्ट के जज ने नोटिस निकाला होता या वारंट निकाला होता या तो उसको जेल में बंद करने का ऑर्डर दिया होता एक दिन के लिए ही सही तो दूसरे दिन वो अपनी आदत आदमी है जो पुजारी है वो अपनी हरकत सुधार लेगा ये जो प्रॉब्लम है वो purely because of judicious support में बोला जुडिशरी के सपोर्ट जुडिशियल सपोर्ट नहीं जूडियोक्रेटिक सपोर्ट कि जहां पे दलितों का अपमान होता है जो हाईकोर्ट के जज है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं ऐसे पुजारियों को इसलिए पुजारी और उछल के ज्यादा अपमान करते हैं यदि उनको एक दो दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाए और बोले कि एक बार अपमान करोगे पहली बार अपमान किया है पांच दिन की जेल अब दोबारा अपमान करोगे दस दिन की जेल फिर से अपमान किया तो बीस दिन की जेल फिर अपमान करोगे तो चार महीने की जेल डबल करते जाओ पनिशमेंट और उसके बाद फाइन लगाना शुरू करो कि पचास हजार का फाइन एक लाख का फाइन दो लाख का फाइन चार लाख का फाइन डबल करते जाओ फाइन को विद एवरी काउंट तो एक आदमी को इस तरह से दो आदमी को दो बार तीन बार फाइन होगा सारे पुजारी सुधर जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में पर हाईकोर्ट के जज है वो अलाउ करते हैं कि भाई दलितों का अपमान पब्लिक में टीवी में हो रहा है कि भाई मैं इस आदमी को नहीं घुसने दूंगा तो वो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा वो नहीं देगा तो राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज जब प्रोसीजर आएगी तो हाईकोर्ट का जज इस तरह से पब्लिक में अपमान को सहमति नहीं देगा मुख सहमति जिसे कहते हैं मौन सहमति क्यों क्योंकि उसको पता है कि भाई इतने सारे लोग दलित आदिवासी है और 90 परसेंट हिंदू भी नहीं चाहते इस तरह से दलितों का अपमान हो क्योंकि उन्होंने डर है कि दलितों का अपमान चालू रहा तो दलित बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन हो जाएंगे तो राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज आने से जो सोशल कंटेंट जो है अवमानना या अपमान वो कम हो जाएगा और इससे नेशनलाइट नेशनलिज्म के लिए जो खींचे जा रहे हैं वो कम हो जाएगा उससे कन्वर्जन भी कम हो जाएगा तो तीन प्रोसीजर मैंने प्रपोज किए right to recall district police chief right to recall home minister और right to recall high court chief जज अब जो नक्सलाइट को कम करने का सॉल्यूशन है वो है राशन कार्ड सिस्टम को इम्प्रूव करना अधिकतर नक्सलाइट एरिया में राशन का सामान पहुंचता ही नहीं है वो जो होम जो मिनिस्टर है सीएम हो या जो भी सिविल सप्लाई का मिनिस्टर है वो और कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर वो जो पाँच छः अफसर होते हैं वो यूँ समझो कि पूरा का पूरा राशन हैंडल कर रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में लालगढ़ में जो प्रॉब्लम हुई थी नक्सलवादियों की वो प्रॉब्लम क्यों हुई क्योंकि वहां वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया था थोड़ा बहुत नक्सलवादियों को समर्थन देने का एक कारण ये था कि पिछले दस साल से वहाँ लोगों को केरोसिन की बूंद से को नहीं मिली कलकत्ता से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर का एरिया होगा तो वहाँ पे राशन का दाना पानी कैरोसिन कुछ जाता ही नहीं है कलकत्ता से जो एलोकेट होता है वो सीधा ही बांग्लादेश की ब्लैक मार्केट में बिक जाता है और पैसा सीधा उद्योग भट्टाचार्य को पहुंच जाता है या जो भी उसके अधिकारी उनको पहुंच जाता है तो पूरा जो क्योंकि कैरोसिन है वो भारत में पंद्रह रुपये लीटर मिलता है राशन का राशन का दस और पंद्रह रुपये के बीच उसका दाम है देश में उसका दाम तीस पैंतीस रुपये तो बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। वेस्ट बंगाल से नहीं वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है पर बाकी हिंदुस्तान में भी होता है वहाँ से कैरोसिन की इस तरह से स्मगलिंग होती है और लोकल मार्केट में भी बिकता है कि राशन कार्ड में कैरोसिन है वो तो दस लीटर कोटा है और दुकानदार ने सिर्फ छः लीटर के अहमदाबाद में छः सौ लीटर मिल जाता है इसलिए नक्सल नक्सलवाद नहीं पर जो कुछ आदिवासी इलाके हैं फिर वो पूरे इंडिया के किसी भी करते हो वहाँ पे उसको जगह पे तो एक लीटर भी नहीं मिलता सारा का सारा है वो ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं तो इस तरह से वहाँ पे राशन कार्ड की सिस्टम सुधरती है तो अपने आप गरीबी कम हो जाएगी और उनको जो लड़ने की जरूरत और इच्छा दोनों कम हो जाएंगे तो राशन कार्ड सिस्टम कैसे सुधर सकता है right to record district supply officer और नागरिक राशन कार्ड की दुकान कभी भी बदल सकता कि आज एक दुकानदार है वो भी बोलता है कि मैं आठ लीटर का रस दूंगा यदि मेरे पास दुकानदार बदलने की प्रोसीजर है तो दूसरा दुकानदार मुझे आके कहेगा कि मैं नौ लीटर दूंगा तीसरा आके कहेगा मैं साढ़े लीटर नौ लीटर दूंगा और चौथा आके कहेगा कि मैं साढ़े नौ लीटर दूंगा और घर आके दे जाऊंगा तो मेरी दुकान पर लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है तो कॉम्पिटिशन जब शुरू होगा दुकानदारों के बीच तो इससे जो राशन कार्ड की चोरी है वो रिलेटिव कम हो जाएगी और इससे गरीबी कम होगी उसके बाद है ज्यूरी सिस्टम अदालतों में जो बड़े पैमाने पे अन्याय होता है और डिले डिले यानी कि जो शक्तिशाली आदमी है वो कॉन्ट्रैक्टर हो या पुलिस अधिकारी हो I S I P S हो वो जज के किसी भी रिलेटेड को पैसा दे देता है तो जज है वो डेट पे डेट पे डेट पे डाल डालना जाएगा दस पंद्रह बीस पच्चीस साल केस चलाएगा वो जो व्यक्ति में वो थक जाएगा कोर्ट में आना ही बंद कर देगा और उसके बाद वो जज है वो केस को डिसमिस कर देगा क्योंकि तो गवाह नहीं आ रहा केस क्लोज कर देते हैं और कभी कभी पुलिस को बोल देंगे कि पुलिस ने ठीक से कार्यवाही की पुलिस गवाह पेश नहीं कर रहा एक केस मैंने देखा था उसमें सात साल तक जज ने विटनेस को धक्के खिलाया सात साल तक विटनेस आता रहा फिर एंड में विटनेस ने आना छोड़ दिया तो तीन डेट के बाद जज ने केस डिसमिस कर दिया कि विटनेस है वो टेस्टिमोनी देने नहीं आ रहा सात साल आ रहा था तब तक जज ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया तो jury system right to recall जैसे ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा पर ज्यूरी सिस्टम से बिल्कुल कम हो जाएगा तो ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ज्यूरी जो आती है वो रैंडमली सिलेक्टेड होती है रैंडमली सिलेक्टेड यानी कि ये मान लो वोटर लिस्ट है ये वोटर लिस्ट है और मैंने किसी को क्राइम किया मैंने कोई तो दस बारह पंद्रह लोग वोटर लिस्ट से रैंडम सिलेक्शन से आएंगे रैंडम सिलेक्शन की पूरी प्रोसीजर है जो मैंने चैप्टर 21 में डिस्क्राइब की है कि जूरी सिस्टम में रैंडम सिलेक्शन कैसे किया जाता है अब मैंने दूसरा प्राइम किया तो दूसरे केस के लिए दूसरे 12 पता लोग आएंगे अब जज सिस्टम में क्या होता है कि मैंने 50 प्राइम किए यानी मेरी गैंग है पचास लोगों की और मैं साल में मान लो 2000 प्राइम करता हूँ मार्केट के एक्सटोर्शन के अलग अलग तो 2000 में से 500 लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं 500 के 500 पुलिस केस एक या दो या पांच जज के पास जाएंगे उस पांच जज के रिलेटिव को वकील बना दूंगा पांचों के पांच में मुझे 100 परसेंट एक्विटल मिल जाएगा जबकि जूरी में क्या होगा कि वो जो 500 लोग कंप्लेंट करने के तो हर एक केस में बारह बारह की अलग जूरी आएगी तो मुझे तो छह लोगों को कंफ्रंट करना पड़ेगा और छह लोगों से मान लो मैंने पांच को भी प्राइव कर लिया तो एक प्राइव नहीं हुआ तो मेरे पचास में से दस बारह लोग हैं गैंग के वो जेल में जाएंगे दस लोग जेल में जाएंगे तो बीस लोग कैंप छोड़ के चले जाएंगे तो इस तरह से जूरी सिस्टम में दबन करने की ताकत कम हो जाती है तो आ, जब अला दूसरा जूरी सिस्टम में क्या होता है कि एक जूरी को एक ही केस दिया तो वो केस चलेगा सुबह दस बजे से लेकर पांच बजे तक तो वकील के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो केस को चलाए कितने भी उल्टी उल्टी दलील कर ले दो दिन में तीन दिन में दस दिन में सारी दलील उसकी खत्म हो जाएगी उस पर आजकल तो जब क्या करते हैं दो दो तीन महीने की डेट डाल के थका देते हैं और बहाना क्या बोलते हैं और सच भी है कि भाई देखो मेरे पास पांच हजार केस है मेरे पास दस हजार केस है मेरे पास पच्चीस हजार केस है औसत अदालत में आजकल दस बीस हजार केस चढ़े हुए तो उसको बहाना मिल जाता है दो दो तीन तीन महीने की डेट डालने का और फिटनेस को थकाने का लेकिन ज्यूरी सिस्टम में तो है ही नहीं है तो ज्यूरी है वो मिली हुई नहीं है मिली भगत नहीं है दूसरा एक ज्यूरी को एक केस दिया है वो ज्यूरी तो कभी बोलेगी नहीं कि दो महीने बाद आओ तीन महीने बाद आओ तो जुड़ी में डेट क्या होती है 99% में कल परसों या तो एक दिन बाद दो दिन बाद जूरी ट्रायल 99% अमेरिका में जो जूरी ट्रायल शुरू होते हैं तो शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर 99% केस खत्म हो जाते हैं तो इसे डिले नहीं होता और डिले नहीं होता इस तरह से ऑटोमेटिकली कोर्ट में अन्याय होने की संभावना कम हो जाती है तो जूरी सिस्टम आने से दलितों पर जो दमन हो रहा जाएगा तो फिर से नक्सलाइट की मात्रा कम हो जाएगी उसके बाद नक्सलवादी है वो आदिवासियों को वो भी आदिवासियों पे दमन करते हैं इसमें आदिवासी और दोनों के बीच सैंडविच बन जाते हैं कभी कभी कि पुलिस है वो भी दमन करती है नक्सलवादी है वो भी दमन करते हैं फिर पुलिस है वो सर्वाजुलम के नाम पे कुछ एक नक्सलवादी और कुछ एक आदिवासियों को सबको नहीं हथियार देती है तो वो सर्वाजुलम वाले भी दमन करते हैं तो आदिवासी तो एक तरह से सैंडविच बन जाते हैं तरह से तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हर एक आदमी के पास हथियार रखने की छूट होनी चाहिए आजकल क्या हो रहा है आदिवासी विस्तारों में कि आदिवासी अपने बचाव के लिए मान लो कहीं से टूटा फूटा हथियार लिया तो यदि नक्सलवाद वो पुलिस का आशीर्वाद है तो पुलिस उसके पास हथियार रहने दे लेकिन पुलिस का आशीर्वाद नहीं है तो पुलिस जाकर उसका हथियार छीन लेगी उसके ऊपर केस ठोक देगी और इसलिए बहुत सारे दलित है वो हथियार अपने पास है पाते अपने पास सारे दलितों के पास तो पैसा नहीं है हथियार रखने का पर मान लो सौ दो सौ दलितों का या आदिवासियों का गांव है तो उसमें से दो तीन लोग समृद्ध है जो कि कुछ एक हथियार सामान्य हथियार अपने पास रख सकते हैं लेकिन वो भी नहीं रख पाते क्योंकि कानून उनको हथियार रखने की परमिशन नहीं देता मतलब कानून क्या कहता है कि आपको एसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी या कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ पे अहमदाबाद में यदि बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम पुलिस को पांच लाख की रिश्वत देनी पड़ती है पांच लाख से नीचे बंदूक या गोली रखने का लाइसेंस भी नहीं मिलता तो और प्लस थोड़े बहुत पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं अभी पांच लाख का कैश लेकर आऊंगा और दूसरे दिन स्पीड पोस्ट से लाइसेंस आ जाएगा पांच लाख की रिश्वत और प्लस पॉलिटिकल कनेक्शन तो ऐसे में जो समृद्ध दलित है लेकिन वो इतना समृद्ध नहीं है कि पांच लाख का कैश दे सके और तो उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं तो उनके पास हथियार ही नहीं है तो नक्सलवादी भी उसका दमन करते हैं पुलिस भी जमकर उनका दमन करती है तो नागरिकों को हथियार रखने का कानून दिया जाए और डी लाइसेंसिंग ऑफ वेपन्स तो बंदूक का दाम जो कि आजकल हजारों लाखों में जाता है वो कम होके अच्छी बंदूक डिसेंट क्वालिटी जो मिलिट्री क्वालिटी की नहीं बोलता जर्मन मिलिट्री क्वालिटी की बंदूक नहीं बोलता पर एक डिसेंट क्वालिटी जैसे आपकी पुलिस की रिवॉल्वर है उस रिवॉल्वर का दाम कम होके पाँच सात दस हजार हो जाएगा और दूसरा मैंने जो प्रपोज किया weaponization for us commons weaponization of commons जो ड्राफ्ट मैंने प्रपोज किया है उसमें है कि आदमी अधिक से अधिक दो बंदूक रख सकता है तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि मैंने दो बंदूक रखी अब मेरे पास मान लो और पैसा आ गया मैं समृद्ध हो गया तो मैं मुझे तीसरी अच्छी बंदूक खरीदी है तो मुझे एक बंदूक बेचनी पड़ेगी तो उससे एक सेकेंड हैंड मार्केट क्रिएट हो जाएगी जिसमें बंदूक पाँच सौ रुपये हजार रुपये में बिकने लगेगी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आज मेरे पास ये मोबाइल है और दूसरा ये मोबाइल है अब मैं और अच्छा मोबाइल खरीदता हूँ तो दो में से एक मोबाइल है ये मोबाइल मैं बेच दूंगा तो भले प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट हैंड मार्केट में इसका भाव हो सकता है दो हजार और तीन हजार और चार हजार पर सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड मार्केट में इस मोबाइल का दाम पाँच सौ सात सौ रुपये हो जाएगा तो जब दो मैंने कार्ड में प्रपोज किया कि आदमी मैक्सिमम दो बंदूक रख सकता है उससे जो आदमी अच्छी बंदूक खरीदेगा वो अपनी कम अच्छी बंदूक है वो बेचेगा तो इस तरह से पुलिस की जो रिवॉल्वर लेवल की या तो हैंडगन लेवल की जो बंदूक है वो बाजार में तीन चार हजार रुपये में मिलने लगेगी तो कोई भी मिडिल क्लास आदमी भी हथियार रख पाएगा तो अपने आप को उसमें नक्सलवादियों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी तो इससे भी नक्सलवाद कम होगा अब अंत में एक टॉपिक जो मुझे बताना था कि लैंड रिफॉर्म्स भारत में क्यों नहीं हुए लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून बनाया जवाहरलाल गांधी ने तो उसने कानून जानबूझ के ऐसा खोखला बनाया जानबूझ कर कि वो कानून के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स हो ही ना सके जैसे उस कानून में उसने दो बातें छूट रखी कि non revocable power of attorney कर सकता है और आदमी अपने रिश्तेदार के नाम पे लैंड ट्रांसफर कर सकता है तो जमींदारों ने बड़े पैमाने पे जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दी और उसके पास non revocable power of attorney ले लिया यानी कि मैं अपने रिश्तेदार को बोलता हूँ कि ये सो एकड़ जमीन तेरी और साथ में उसका non revocable power of attorney ले लेता हूँ कि मैं इस जमीन का पूरा कारोबार मैं करूंगा यानी वो ओनर रहा ही non revocable power of attorney तो ये कानून डालने की जरूरत थी कि non revocable power of attorney और non agricultural land will not apply यानी कि विल बी कंसिडर्ड वॉइड और will be considered as equal to sale यानी कि वो माना जाएगा कि वो बेचा है या तो उसको कंप्लीटली वॉइड माना जाए तो इस तरह से जो लैंड सीलिंग एक्ट है कि जो मेरे पास मेरे पास डेढ़ हजार एकड़ जमीन है लैंड सीलिंग एक्ट है डेढ़ सौ एकड़ की तो मैं डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ अपने नौ रिश्तेदार के नाम में ट्रांसफर कर देता हूँ और उनसे नॉन रिवोल्यूबल पावरटी नहीं ले लेता हूँ तो वो जमीन बात तो वही वही रही तो वो कानून में ये प्रोविजन डाल के कैंसिल कर सकते थे लेकिन जवाहरलाल गांधी ने ऐसा कानून नहीं बनाया अंदर से वो जमींदारों से मिला हुआ था जवाहरलाल गांधी के बारे में आप पाठ्य पुस्तकों में पढ़ोगे तो ऐसा आएगा कि वो जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था वो प्रोग्रेसिव था वो सारे पेड हिस्टोरियन मतलब पेड हिस्टोरियन नहीं पर ये पेड लोगों ने ये सब लिखा जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल गांधी जवाहरलाल गांधी इन्हें अलग अलग जगह से ग्रांट लाके देता था ये सारे बुद्धिजीवियों को यानी कुबुद्धिजीवी को मैं उन्हें कुबुद्धिजीवी का ये कुकुती जीवियों को बड़े पैमाने में ग्रांट मिलती थी जवाहरलाल गांधी से इसलिए वो इस तरह की बात लिखते थे कि जवाहरलाल गांधी बहुत प्रोग्रेस है पर उन्होंने पर जो लैंड रिफॉर्म का ड्राफ्ट लिखा उसमें साफ साफ लिखता है कि वो जमींदारी व्यवस्था को चालू रखना चाहते हैं उसके बाद जब खेतीन मजदूर जमीन का दावा करने गए अपनी तो जमींदारों ने गुंडों के द्वारा उनकी मार पिटाई कराई गुंडों के द्वारा मार पिटाई की तो पुलिस केस हो गया ये मैं नाइनटीन की बात करता हूँ अर्ली फिफ्टीज पुलिस केस आ गया तो उस समय जूरी सिस्टम थी 1950 टू 1956 इंडिया में जूरी सिस्टम थी तो जूरी सिस्टम में वो गुंडे जेल में जाते थे क्योंकि जूरी तो वैसे ही जमींदार से और वो ऐसा गुंडे टाइप जमींदारों के खिलाफ थी तो जवाहरलाल गांधी ने भारत में जूरी प्रथा खत्म करा दी कैसे खत्म करा दी क्योंकि उसने नोटिफिकेशन निकाला कि जूरी है वो बायास है अनपढ़ है बेकार है वगैरह वगैरह और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी जूरी सिस्टम को खत्म करने के उस अध्यादेश को स्वीकार कर लिया या भारत में यूनिट सिस्टम खत्म कर दो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया उसकी दो तीन वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिश्तेदार लोअर कोर्ट में जज थे सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो उन्होंने देखा कि यदि जूरी सिस्टम है तो हमारे रिश्तेदार को पैसा नहीं मिलता जो जज है अब जहां पे जूरी सिस्टम है वह वकील या आसी या कोई भी जज को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता क्योंकि डिसीजन तो जूरी को ले रहा है वकील को दे देगा खाने पीने का चाय पानी का पैसा दे देगा पर मतलब जो पूरा बत्तीस आइटम की थाली नहीं मिलती उन्हें जबकि जज सिस्टम में जज को खूब पैसा मिलता है क्योंकि पूरा डिसीजन उसे लेना है केस को बन चाहे उतना डिले कर सकता है बन चाहे उतना डिस्क्रिशनरी पावर इधर या उधर अप्लाई कर सकता है तो किसी भी फैक्ट को एक्सक्लूड कर सकता है तो इतना सारा पावर जज के सिस्टम में जज के पास होता है तो जज को ज्यादा पैसा मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखा यदि जूरी सिस्टम खत्म होती है तो हमारे जो रिश्तेदार है लोअर कोर्ट में हाईकोर्ट में इनकम बढ़ जाएगी इसलिए उन्होंने भी ये जूरी सिस्टम को खत्म करने के अध्यादेश को जवाहरलाल गांधी के अध्यादेश को स्वीकार कर लिया यदि जूरी सिस्टम भारत में टिक जाती तो लैंड रिफॉर्म्स भारत में हो जाते तो आज नक्सलवाद की समस्या भारत में होती है और अकेले हमें जवाहरलाल गांधी और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए उस समय जितने कुबुद्धिजीवी थे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले या लॉ पढ़ाने वाले करीब करीब सारे कुबुद्धिजीवियों ने क्योंकि उनके रिश्तेदार जज थे या बड़े नामी वकील थे करीब करीब सारे कुबुद्धिजीवियों ने जूरी प्रथा को खत्म करने की बात को समर्थन दिया यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम पाठ्य पुस्तकों में नागरिक विद्यार्थियों को जूरी सिस्टम के बारे में बताएंगे तो भारत में पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो बीए हो या एमए हो या पीएचडी हो लॉ का विद्यार्थी हो कुछ कुछ को उनका सब्जेक्ट होता है कि जिसमें उन्हें अमेरिका ब्रिटेन वगैरह की लॉ की सिस्टम स्टडी करनी होती है तो उनकी टेक्स्ट बुक में जो कुबुद्धि जी भी उनके पाठ्य पुस्तक लिखते हैं उसमें जूरी सिस्टम के बारे में उनको बताते ही नहीं है क्यों क्योंकि भाई सौ विद्यार्थियों को हम बताएंगे उनमें से दो तीन विद्यार्थियों को ये बात अच्छी लगी और अच्छी लगी और उन्होंने बाकी सौ विद्यार्थियों के बीच फैलानी शुरू की तो तो बाद में जीवी प्रथा आने का चांस बढ़ जाएगा चांस बढ़ जाएगा तो हमारा रिश्तेदार जो जुडिशरी में विराजमान है उनकी आमदनी कम हो जाएगी तो ये आप अधिकतर देखें कि ये जो पाठ्य पुस्तक लिखने वाले बुद्धिजीवी हैं उनके रिश्तेदारों के नाम इकट्ठे कीजिए आपको पता लगेगा कि उनमें से बहुत सारे रिश्तेदार जुडिशरी में जज की कुर्सी पर विराजमान थे और इसलिए उन्होंने जूरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों के नहीं पहुंचाई और जूरी सिस्टम खत्म होने की वजह से भारत में अनेक प्रॉब्लम आ गए दमन बढ़ गया भ्रष्टाचार बढ़ गया कोर्ट में डिले बढ़ गया अधिकारी वर्ग की एक तरह की जो आपको चाहिए कि उसकी मनमर्जी करेगा वो भी बढ़ गया और काफी सारी समस्या तो मैं समराइज करता हूँ नक्सलाइट हम कौन कौन से गैजेट नोटिफिकेशन कौन कौन से ड्राफ्ट गैजेट में छपवा के हम नक्सलवादी की समस्या कम कर सकते हैं एक है ट्रांसपेरेंट कंप्लेन प्रोसीजर जो भी मैंने सेक्शन 1.3 में दिया है बहुत सरल प्रोसीजर है कि आदमी चाहे तो कंप्लेन दे सकता है वो कंप्लेंट पीएम की वेबसाइट पे आएगी और कोई भी आदमी एसएमएस के द्वारा या तो मिस कॉल के द्वारा या तो सॉरी एसएमएस के द्वारा या तो पटवारी की कचहरी को जाके कंप्लेन पे हाना दर्ज करा सकता है एक ये उसके बाद एमआरसीएम यानी मिनरल रॉयल्टी और सरकारी जमीन का किराया सीधा सिटीजन को मिले ऐसा होगा तो गरीबी कम हो जाएगी नक्सलवाद कम हो जाएगा राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर राइट टू रिकॉल होम मिनिस्टर राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज तो इससे दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं और उनका बड़े पैमाने पे अपमान हो रहा है जैसे मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता वो अपमान हुआ और वो अपमान हाईकोर्ट के जज की वजह से हो रहा है आ, तो वो कम हो जाएगा राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज आने से right to recall district supply officer ration card अधिकारी और राइट टू रिकॉल और procedure to change ration card shop यह आएगा तो राशन कार्ड का सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा पूरी तो गरीबों की गरीबी कम हो जाएगी नक्शलवाद कम हो जाएगा और ज्यूरी सिस्टम कोर्ट में ज्यूरी सिस्टम आएगी तो उसे अपमान और अपमान अन्याय कम हो जाएगा भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो अपने आप गरीबी कम हो जाएगी और इससे भी नक्सलवाद कम हो जाएगा और सारे नागरिकों को हथियार रखने की छूट देगी इससे नागरिकों के पास हथियार आ जाएंगे तो नक्सलवाद नक्सलवादी उनका दमन नहीं कर पाएंगे ये सारे चीज़ें ड्राफ्ट में लिखने से गैजेट में के ड्राफ्ट में आने से नक्सलवाद की समस्या को हल किया